नमस्कार मित्रों ये वीडियो ह्यूमन राइट्स वाले दोगले लोगों पे ह्यूमन राइट्स एनजीओ वगैरह इन लोगों को क्या है कि अमेरिका वगैरह देशों से बहुत पैसा आता है इसलिए वो अनाप शनाप ह्यूमन राइट्स के ऊपर केस ठोकते रहते हैं और ये जो मैं वीडियो बताऊंगा वो हैदराबाद की एक कहानी के ऊपर है आप गूगल करना हैदराबाद एसिड अटैक एनकाउंटर ये तीन शब्द पे करना चार शब्द पे हैदराबाद एसिड अटैक एनकाउंटर तो उसमें घटना ये थी कि चार साल पुरानी घटना है कि हैदराबाद में तीन लड़कों ने एक लड़की पे एसिड फेंका और उस वो लड़की वो बुरी तरह जल गई उसकी आंख आंख दोनों एक आंख से अंधी हो गई और उसका काफी बुरा हाल हो गया फिर पुलिस ने देखा कि भाई वो लड़की है वो खुद केस करने को तैयार नहीं है क्योंकि वो तीन लड़के थे वो धमका रहे थे लड़की को कि यदि तूने केस किया तो हम तेरे फैमिली मेंबर पे भी एसिड फेंकेंगे वगैरह वगैरह तो फिर उस इंस्पेक्टर ने उन तीनों का एनकाउंटर कर दिया कि अब ह्यूमन राइट्स वालों को तो एनकाउंटर हुआ यानी पहुंच गए सीधा हाईकोर्ट में कि भाई ये फेक एनकाउंटर हुआ है वो आदमी पुलिस हमेशा एनकाउंटर करती है तो पेपर पे क्या लिखती है कि हम उन तीन आरोपियों को ले जा रहे थे उसमें से उस तीन आरोपियों ने बंदूक छीन ली हमारी और हम पे फायरिंग किया और रिप्लाई में हमने उन पे फायरिंग किया और वो तीन लोग मर गए मतलब वो कहानी तो झूठी है पर कागज पे तो यही लिखना पड़ेगा फिर कभी-कभी ये भी बोलते थे कि भाई उन्होंने फायरिंग कैसे किया उनके हाथ तो बंधे हुए थे तो कि उन्होंने बोला कि भाई मुझे बाथरूम जाना है इसलिए मुझे उनके उसके हाथ खोलने पड़े और जैसे मैंने उसके हाथ खोले उसने मेरी बंदूक छीन ली मुझ पे फायरिंग की और मैंने रिप्लाई में फायरिंग की और वो मर गया तो यदि उसका बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो फॉरेंसिक साइंस की A B C D Z सब लगा दो तो कहानी हमेशा पकड़ी जाती है ये गलत कहानी है इसको आज की फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी है वो छिपा नहीं सकती तो वो हाईकोर्ट में चले गए ह्यूमन राइट्स वाले केस लेके फाइल करने के लिए कि ये गलत एनकाउंटर है उस पर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए तो जो रजिस्ट्रार था कोर्ट का वो खुद मानता था कि भाई ऐसे लोगों का एनकाउंटर होना ही चाहिए क्योंकि ऐसे केस में होता क्या है कि यदि क्रिमिनल थोड़ा अमीर आदमी है तो वो जज को पैसे देके निकल जाता है <coughs> तो रजिस्ट्रार के पास पावर तो नहीं है कोई आदमी केस फाइल करने आता है तो केस तो उसको लेना ही पड़ेगा पर इतनी पावर है कि आदमी को दो तीन घंटे तक बिठा सके तो उसने उसको बिठाया जो कंप्लेन लेके आया था और मीनवाइल उसने उस इंस्पेक्टर को बता दिया कि भाई तुम्हारे सामने एक पीआईएल फाइल हो रही है ह्यूमन ये फेक एनकाउंटर के मामले पे तो जो इंस्पेक्टर था जब उसने एनकाउंटर किया तो दूसरे दिन आसपास के कॉलेज के लड़के लड़कियां उस इंस्पेक्टर को मिठाई देने आए थे उसका बहुमान किया उसके आ, मान में जलूस निकाला था और लड़कियों ने पुलिस स्टेशन में जाके उसको राखी बांधी थी मिठाई दी थी तो जो इंस्पेक्टर था उसने जो स्टूडेंट यूनियन के लीडर थे उनको फोन किया कि भाई मेरे खिलाफ ये एफआईआर फाइल हो रहा है और सॉरी मेरे खिलाफ ये पीआईएल फाइल हो रही है ह्यूमन राइट्स वालों की तो जो स्टूडेंट यूनियन थे उन्होंने जो लड़कियों को बताया कि भाई इंस्पेक्टर ने काम किया अब इस, इस इंस्पेक्टर को जेल हो जाएगी तो दोबारा कोई इंस्पेक्टर इस तरह से करेगा नहीं तो एसिड फेंकने वालों की हिम्मत बढ़ती जाएगी तो लड़कियां हाईकोर्ट पहुंच गई बीस पच्चीस पचास लड़कियां हाईकोर्ट पहुंच गई और जो पीआईएल करने वाले आए थे वहां कोर्ट की रजिस्टर की कचहरी में उनकी पिटाई कर दी और उनकी जो कंप्लेन थी वो फाड़ के फेंक दी तो वो उस समय तो चले गए लेकिन दोबारा आ सकते थे तो फिर दूसरे दिन जो स्टूडेंट यूनियन थे उसमें से वो सब जो वहां पे दो चार ह्यूमन राइट्स वालों की ऑफिस थी जो कि केस फाइल करने गए थे उनकी ऑफिस पे गए और लड़के सिर्फ बाहर खड़े रहे हर एक ऑफिस में 10 बीस पचास लड़कियां घुस गई वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के काम करने वालों के जो स्टाफ थे, उन स्टाफ में जो लड़कियां थी उनको कुछ नहीं किया, उनको सिर्फ ऑफिस के बाहर जाने को कहा। उनमें जितने मेल वॉलेंटियर थे, ह्यूमन राइट्स वाले, उन सबकी जम के पिटाई की मतलब हाथ पांव तोड़ दिए। और उनका सारा फर्नीचर ऑफिस के बाहर निकाल के जला दिया। सारे ह्यूमन तो उसके बाद किसी ह्यूमन राइट्स वाले की इस मुद्दे पे पीआईएल करने की हिम्मत नहीं हुई। आज भी आप गूगल करना हैदराबाद एनकाउंटर एसिड तो आपको वो केस आएगा कि जिसमें उस पुलिस इंस्पेक्टर ने तीन एसिड फेंकने वालों का एनकाउंटर किया था और आज तक हैदराबाद के किसी ह्यूमन राइट्स ग्रुप की हिम्मत नहीं हुई कि उस पर वो पीआईएल करे कि ये एनकाउंटर फेक था और इस पर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए अब अहमदाबाद में ऐसा नहीं हो पाया जो भी वजह है उसकी वजह यह नहीं थी कि अहमदाबाद में लोगों को सपोर्ट नहीं करना था पर उसने पीआईएल फाइल की थी सीधी सुप्रीम कोर्ट में देखो ये जो मारपीट का तरीका है वो ज्यादा नहीं चलता क्यों क्योंकि मान लो वही ह्यूमन राइट्स वाले सुप्रीम कोर्ट में जाते लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए क्योंकि उसके लिए ज्यादा पैसा चाहिए और इंटरनेशनल अथॉरिटी है उन्होंने संक्शन नहीं किया होगा कि भाई इतना सारा पैसा हम देंगे तुमको क्योंकि उनको उन्होंने खुद देखा होगा कि भाई इस आदमी की तो लोकल पॉपुलरिटी इतनी है और वो जो एसिड फेंकने वाले थे वो कोई इतने बड़े क्रिमिनल भी नहीं थे कि उनके माँ बाप है वो पैसा दे सके सुप्रीम कोर्ट में वकील रखने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट में यदि पहुंच गए होते तो तुम अब सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा पिटाई करने जाते या जो दिल्ली बेस्ड एनजीओ है उसकी ऑफिस चलाने जाओगे वो बहुत महंगा पड़ेगा वो पॉसिबल भी नहीं है अब अहमदाबाद में पुलिस ने एनकाउंटर किए एक सोराबुद्दीन नाम का गुंडा था उसका एनकाउंटर किया फिर ये दूसरे तीन चार एनकाउंटर किए और एक तरह से एनकाउंटर से पूरे गुजरात को फायदा हुआ है कैसे कि मान लो सोराबुद्दीन का एनकाउंटर नहीं किया होता तो सौराबुद्दीन जैसे 50 गुंडे गुजरात में होते तो गुजरात का अभी जो ग्रोथ हुआ है वो नहीं हुआ होता यदि हर कोने पे सौराबुद्दीन आ जाए तो कौन व्यापारी गुजरात में आके दुकान खोलेगा कौन उद्योगपति गुजरात में आके फैक्ट्री खोलेगा आ, सारा डेवलपमेंट खत्म हो जाता तो और सौराबुद्दीन को मारने एनकाउंटर करने की वजह भी यही थी कि वो बड़े पैमाने पे खंडनी वसूल करता था राजस्थान में और जब पता चला कि अब वो गुजरात में काम शुरू करने वाला है और गुजरात में उसने एक दो लोगों से खंडनी ली ऐसी कंप्लेन आई और उसका यदि एनकाउंटर नहीं किया होता तो वो 20 लोगों से खंडनी मांगता और उसके बाद फिर ऐसे 50 सौराबुद्दीन पूरे इंडिया से आ जाते यूपी से बिहार से देश के कोने-कोने से तो क्या खाक डेवलपमेंट होता है इसलिए और भी बहुत सारे रीजन थे उसके पीछे पूरी मार्बल माइनिंग की लॉबी है पर इसलिए एनकाउंटर किया और एक तरह से देखो तो एनकाउंटर की वजह से कैसे सबको फायदा हुआ है कि मेरे पास जो फ्लैट मैंने खरीदा था 2004 में उसकी कीमत उस समय 12 लाख थी आज उसकी कीमत शायद 50 लाख है मुझे खुद नहीं पता कितनी है पर ऐसे बुद्धिन आते यहाँ पे 10 बीस 50 तो 12 लाख का 24 लाख भी नहीं हुआ होता तो जितने भी गुजरात में रहने वाले सबको एनकाउंटर का फायदा हुआ है और मैं पब्लिकली बोलता हूँ कि सौराबुद्दीन का एनकाउंटर करने का ऑर्डर वणजारा को मैंने दिया था एसएमएस करके मैं खुद बोलता हूँ कि मेरे कहने पर ही उसने एनकाउंटर किया है तो पर उस एनकाउंटर का नतीजा क्या हुआ कि आज कुछ पांच दस पुलिस वाले जेल में हैं वो वीआईपी आदमी था ना सौरभुद्दीन तो उसका एनकाउंटर हुआ और उसमें आज तीन चार आईपीएस ऑफिसर और पांच छह non IPS officer police officer कुल मिला के कुछ दस ग्यारह लोग आज जेल में है सौरभुद्दीन इशरत इस तरह से और वो इसी तरह से कि ह्यूमन राइट्स वाले पहुंच जाते हैं कि भाई यहाँ इसका ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है और हर जगह आप इनकी इनकी वजह से नुकसान हो रहा है ऐसा नहीं कहता ये तो सिर्फ एक मामूली लोग है पॉन्स है नुकसान हो रहा है वो जुडिशरी की वजह से हो रहा है ह्यूमन राइट्स है वो तो सिर्फ एक पॉन का काम करते हैं कि वो एक मुखौटे बन जाते एक फ्रंट प्रोवाइड करते हैं बाकी असली पावर तो जुडिशरी के हाथ में जैसे ह्यूमन राइट्स वालों ने कंप्लेन की कि भाई सौरभ बुद्धि ने एनकाउंटर किया पर वो पीआईएल एडमिट किसने की जज ने की एसआईटी किसने मिठाई जज ने मिठाई एसआईटी को ऑर्डर को मोटिवेशन किसने दिया कि भाई इतने आप आईपीएस अफसर को जेल में भेजो वो सारा काम जुडिशरी के थ्रू हुआ है पर एक न्यूसेंस फैक्टर की तरह काम करते हैं वो एक लेजिटिमेसी प्रोवाइड करते हैं गलत आदमी होता है ह्यूमन राइट्स वाले उनको लेजिटिमेसी प्रोवाइड करते हैं एक और धंधा खोल रखा है ह्यूमन राइट्स वालों ने वो है नार्को टेस्ट का विरोध करना एक आदमी है जिसने मान लो 10-20 लोगों को उड़ा दिया जैसे ये हैदराबाद के क्रिमिनल है हैदराबाद में जो बम ब्लास्ट हुआ या तो हैदराबाद में जिन्होंने एसिड फेंका था तीन आदमियों ने जिसने लड़की पर एसिड फेंका था तो ह्यूमन राइट्स वाले कहते हैं कि उनका नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि नार्को टेस्ट ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है नार्को टेस्ट में होता है कि सोडियम पेंथानोल नाम का एक केमिकल है वो इंजेक्ट किया जाता है उस केमिकल की अभी तक कोई लॉन्ग टर्म हार्मफुल इफेक्ट नहीं निकली शॉर्ट टर्म भी नहीं निकली शॉर्ट टर्म के आदमी थोड़ा सा बेहोश हो जाता है एनेस्थेशिया एनेस्थेशिया से भी माइल्ड होता है उसका जानवरों पे अनगिनत एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं अभी तक उससे कोई कैंसर या लॉन्ग टर्म साइकेट्रिक बीमारी या आदमियों पे जितने एक्सपेरिमेंट हुए हैं उसमें से और ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी में रोज-रोज नार्को टेस्ट लेना होता है उसका जो क्रिमिनल है उसका पूरा ट्रायल के दौरान एक या दो या मैक्सिमम तीन बार नार्को टेस्ट लेने की जरूरत पड़ती है उससे नहीं होता तो सुई चुभा के पांच मिलीलीटर एक केमिकल डालना होता है जिसका कोई नॉन साइड इफेक्ट नहीं है तो भी ह्यूमन राइट्स वाले पहुंच गए कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है और और उन्होंने ह्यूमन ये नार्को टेस्ट पे बैन करने की डिमांड रखी जज ने तो उनका सिर्फ एक पॉन की तरह इस्तेमाल किया जज ने नार्को टेस्ट इसलिए बैन किया कि यदि नार्को टेस्ट चालू रहता तो जुडिशरी के करप्शन के केस सारे बाहर आ जाते तो जज ने क्या जजमेंट दिया कि आप नार्को टेस्ट कर सकते हो किसी आतंकवादी का बलात्कारी का मर्डरर का या हिट एंड रन में किसी ने दो पांच आदमियों को उड़ा दिया या भ्रष्टाचार किया हो या रेप का केस हो या तो financial high high profile financial fraud का केस हो तो इसमें नार्को टेस्ट हो सकता है लेकिन जो एक्यूज है जो क्रिमिनल है वो राइटिंग में मजिस्ट्रेट के सामने परमिशन दे उसके बाद और परमिशन देने के बाद भी एंड मोमेंट पे यदि वो अपनी परमिशन कैंसिल करता है तो उसका नार्को टेस्ट नहीं होगा तो अब मेरे ख्याल से कौन परमिशन देगा जिस जज ने ये जजमेंट दिया उसका नार्को टेस्ट ही सबसे पहले करवाना चाहिए तो कौन क्रिमिनल है जो कि परमिशन देगा कि मेरा नार्को टेस्ट करो तो अभी हालत यह है कि हैदराबाद में जो बम ब्लास्ट हुए और 10-20 लोग मर गए वो क्रिमिनल यदि पकड़े जाते हैं तो उनका नार्को टेस्ट भी शायद ना हो पाए यदि वो परमिशन नहीं देते कि हमारा नार्को टेस्ट करो तो उनका नार्को टेस्ट नहीं हो पाएगा तो इसका उपाय क्या है कि आप पहले ह्यूमन राइट्स वालों को दबोचो और उनको बोलो कि तुम right to recall supreme court जज का क्यों विरोध करते हो और उसको ड्राफ्ट पढ़ के बताओ फिर कि भाई ये MRCM की मिनरल रॉयल्टी सीधी सिटीजन के खाते में जमा होनी चाहिए उसका क्यों विरोध करते हो वो ये सारी चीजों right to recall Doordarshan chairman का क्यों विरोध करते हो और वो इनमें से एक भी कानून का समर्थन क्यों नहीं कर पाएगा क्योंकि अंदर से वो लोग अमीरों के एजेंट हैं और ये सारे कानून अमीरों के इंटरेस्ट के खिलाफ जाते हैं फिर ह्यूमन वालों को पूछो कि भाई ये जितने एनजीओ है उनके पास जितनी जमीन है उसका ब्यौरा क्यों इंटरनेट पे नहीं आना चाहिए जमीन छीनने की बात नहीं कर रहा जमीन पर टैक्स लगाने की बात भी नहीं कर रहा पर इतना ही कि भाई कि जितने जितने एनजीओ है उसके पास कितनी जमीन है वो इनका वो इंटरनेट पे आना चाहिए और उस एनजीओ का मालिक है उसका फोटो उसका नाम फोटो एड्रेस जो भी है और फिर बाद में उसका एक ट्रस्टी आइडेंटिफिकेशन नंबर बना सकते हैं टिन जैसे डिन है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर कि एक आदमी यदि 10 कंपनी का डायरेक्टर है तो हर जगह उसका डीन एक ही होगा तो उससे बैंक है वो पता लगा सकती है कि इस आदमी ने आ, ये आदमी है वो पहले किसी और कंपनी का डायरेक्टर रह चुका है जिस कंपनी ने बैंक को टोपी पहनाई हो तो वो डीन एंटर करके देखते हैं कि भाई ये तो आदमी ने पहले दस कंपनियां खोल चुका था और दस कंपनियां डुबा चुका है तो इसको लोन नहीं देनी वैसे ट्रस्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर टिन तो जो भी आदमी ट्रस्टी है वो अपना टिन निकलवा ले और उसको पैन आईडी टिन की तरह यूज करना है तो वो पैन आईडी टिन की तरह यूज करे तो इससे पता लग जाएगा कि देश के कितने अमीर आदमी है और कौन-कौन से ट्रस्ट हमारे देश में काम कर रहे हैं तो वो एनजीओ जो ह्यूमन राइट्स वाले वो इसका विरोध करेंगे कि नहीं ट्रस्ट के पास कितनी जमीन है वो इंटरनेट पे नहीं आना चाहिए अब इसका नतीजा क्या हुआ है ये मेरी थोड़ी अनकन्फर्म्ड इंफॉर्मेशन है मैंने पूरी कंफर्म नहीं किया कि भारत में सबसे बड़ा जमीन का मालिक कौन है तो पहले नंबर पे तो भारत सरकार ही आएगी रेलवे है ये इतने सारे जंगल है सड़क है तो नंबर वन तो land owner will be obviously government of India number two पे कौन आता है मुझे एक आदमी ने बताया कि नंबर टू पे आता है वेटिकन कि अंग्रेजों के टाइम पे इतनी सारी जमीन अंग्रेजों ने वेटिकन को दे रखी है अलग-अलग ट्रस्टों के नाम पे और वो ट्रस्ट में ट्रस्टी अपॉइंट करने का पावर वेटिकन के पास है अब ये इन्फॉर्मेशन यदि ठीक है तो तो बहुत बड़ी बात हो गई कि इतनी सारी जमीन है और उस पर टैक्स नहीं लिया जा रहा तो ये सारी जमीन का एक एक ट्रस्ट की जमीन का ब्यौरा यदि इंटरनेट पे आता है तो कम से कम हमें पता तो चले कि ये जो ट्रस्ट है उन्होंने कितनी मील माइल के माइल किलोमीटर मतलब एकड़ नहीं बोल रहा स्क्वायर माइल बोल रहा हूँ कितना स्क्वायर किलोमीटर जमीन वो लोग दबेल के बैठे हैं उसपे कितना गवर्नमेंट को टैक्स लॉस जा रहा है और उस जमीन के पीछे ट्रस्ट के पीछे किस आदमी का ओनरशिप राइट है तो जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं वो जब भी आप निकृष्ट अमीर जो गलत अमीर आदमी है उसके विरोध करोगे तो वो तुरंत उसका विरोध करेगा और उससे उसकी पोल पब्लिक में खुली होगी तो उसको बोलो कि भाई ये जो हिट एंड रन में जिसने दो पांच आदमी को उड़ा दिया ये गुड़गांव वाला है या शीलज वाला है या वस्त्रापुर में बीएमडब्ल्यू वाला है उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए वो विरोध करेगा तो इस तरह से आप ह्यूमन राइट्स में के जो दोगले हैं उनको आप पब्लिक में बदनाम कर सकते हैं धन्यवाद